यात्रा करने वाले वो लास्ट वाले पहले कोटि वाले वो तो यही आए यही गए हुए कुछ नहीं, नहीं। हाँ। जैसे क्रम मुक्ति में आप बताए कि ब्रह्म लोग गए वहाँ सद्य मुक्ति वाला जो है हाँ। तुरंत हो जाएगा तुरंत कोई भरोसा थोड़ी है ये तो आपके ऊपर निर्भर है तुम्हारी कितनी क्रम मुक्ति है कितनी तुम्हारे पुण्य पूंजी बना रखे हो कल भी विचार आया था भाई पुण्य पूंजी पर सारा निर्भर है कितनी अंतर्गण शुद्ध है वहां जाने के बाद अंतर्गण शुद्धि करनी पड़ सकती है और चालीस में क्या आया इंद्र प्रजापति को उत्तम हारती इंद्र क्या प्रजापति के बाद प्रजापति को वही तो हिरण कर वहां कितने वर्ष लगा उसको इंद्र को उतने साल लग गए हम लोगों की आप लोगों की क्या गिनती है वहां पता नहीं कितने साल लग जाए क्रम मुक्ति के चक्कर में मत पड़ो सद्यो मुक्ति का चक्कर पड़े ये अच्छे तो सत्यम अस्थि सद्य मुक्ति का चक्कर में रहना चाहिए अब भाई चांस हो जाए क्रम मुक्ति तो होने दो बात अलग है अपना लक्ष्य हमेशा सद्य मुक्ति बनाए रखना उसी के लिए पूरा प्रयास करना है यथा विधि चलनी चाहिए अभ्यास वैराग्य जो कहा गया यम नियम अवगम प्राणायाम धारणा ध्यान समाज सारी चीज को प्रत्यास अभ्यास करना चाहिए यथाशक्ति अभ्यास करते रहे तो शब्द मुक्ति कोई खास देरी नहीं लगती है यहाँ जितनी जल्दी होगी ब्रह्मलोक में उतनी जल्दी नहीं हो सकती है पक्का लिख लो यहाँ जितनी जल्दी हो सकती है वो ब्रह्मलोक में भी नहीं हो सकती पहले कहा है ना इसीलिए कठोपरेशन में छात्र युवा नहीं अनुष्ठान पितृलोक अलग अलग लोक में सबसे बढ़िया यहाँ है और कहीं नहीं है इसलिए इस अवसर को जिसने खो लिया उसको तो कई लाख साल लग सकता है कोई भरोसा नहीं इसी कारण से कहा जा रहा है ये सब के सब मृत्यु गोचर एवं विनाशी ही होंगे इसमें कोई संशय नहीं ध्यान क्रिया से प्रयुक्ता हाँ, आत्म ध्यान क्रिया सो प्रयुक्ता क्योंकि वे सारे के सारे को हमने क्या कर रखे हैं उन सबको ताहा भी माता मृत्यु मत में तथा भिन्न ओंकार से भी तथा तो शंका ही होती है ये तीनों मात्राएं अलग अलग किए जाने पर वो यदि विनाशी है विनाशी फल प्रदान करेंगे उन तीनों से विशिष्ट जो अवयवी वो भी विनाशी होगा ना विनाशवान अवयवों वाला जो अवयवी है वह भी विनाशी फल ही देगा ऐसा कोई शंका कर रहा है कहते कि ऐसी बात नहीं है तम ओंकारिण आयतने विद्वान क्योंकि वहां कहा गया है तात्मन अन्योन्य सत्वाद रूपेण आत्म ज्ञान विनुक्ता तुम ता मृत्यु मतिक्रांता एवं भाव क्योंकि जब आत्मनो ध्यान क्रिया से प्रयुक्ता ध्यान क्रिया में उस तीनों मात्राओं को आत्मा का ही ध्यान करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ये अंतर है अवयवों से विशिष्ट अवयवी का जो प्रयोग हो रहा है आत्मा का ध्यान के लिए इन अवयवों का जो प्रयोग हुआ था विभिन्न लोगों के लिए था क्योंकि अमात्रा इसी लोक के लिए था मात्रा स्वर्ग लोक के लिए था मात्रा ब्रह्म लोक के लिए कहीं आत्मा का तो नाम ही नहीं इसलिए वे प्रत्येक प्रत्यय को करने पर विभिन्न लोग भी फल देने वाले होने से और उनके उच्चारण और उनका जब चिंतन जब करते हैं तो तब तक लोक का ही चिंतन होएगा आत्मा का चिंतन तो होगा नहीं आप तीनों से विशेष जब करेंगे तब उससे तो आत्मा का ही होगा क्योंकि तो से वाचक प्रणव तो आत्मा का ही वाचक बनेगा विशिष्ट रूप इसलिए कहते हैं आत्म क्रिया प्रयुक्ता किंच और अन्योन्य सत्ता इतरेत्र संबद्धा क्योंकि वो एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं पृथक नहीं रह जाते हैं इधर पृथक एक फल देने में वो समर्थ नहीं होते अनविप्रयुक्ता विशेषेण एक एक विषय एवं प्रयुक्ता विप्रयुक्ता जो विशेष रूपेण एक एक लोक संबंधी फल को विषय बना करके जो प्रयोग किया जाए उसका नाम विप्रयुक्ता न तथा विप्रयुक्ता उस प्रकार से पृथक पृथक या विपरीत आदि क्रमों से या एक फल को लेकर के प्रयुक्त न हो उसका नाम अविप्रयुक्ता न विप्रयुक्ता इति अनभिप्रयुक्ता नहीं तो समास किया किन तरी फिर कैसे प्रयोग हुआ विशेषण एक एक ध्यान कार्य तिश्रु क्रियास बायाभ्यंतर मध्यमास जर सुप्त स्थान ध्यान लक्षण योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु किंतु कैसे किया आपने विशेषण किंतरी विशेषण एक ध्यान काले किंतु विशेष प्रणव क्या करेंगे प्रत्येक जब ओम का उच्चारण करते हैं प्रत्येक अवय का उच्चारण करते हैं तो प्रत्येक अवयव में तब तब तत्व की कल्पना करते जाना अमात्रा का जब उच्चारण हो रहा है तब जो यह अलोक संबंधी है वो उमादव उच्चारण कर रहा है तो का संबंधी है वो मौमाद उच्चारण कर रहा है तब ब्रह्मलोक संबंधी है तो जब नाज में हो जाता है तो वहां आपको ध्यान करना है ये सब की कल्पना का अधिष्ठान वो शुद्धात्म स्वरूप है वो जब ऐसा ध्यान करो तो विनाशी कहां से होगा फल तो करे विशेष रूप में क्या करना है आपको एक एक मात्रा का ध्यान काल में तीसरे शु क्रियासु कौन सी बाह्याभ्यंतर मध्यमाशु क्रियासु किम तक जहाँ स्वप्न शुद्ध स्थान पुरुष अभित्यार लक्षणार्थ उन अवस्था में भी क्या है पुरुष का भी ज्ञान आत्मा का भी अर्थात उन लोक तथा अवस्थाओं का अधिष्ठान होता आत्मा का जन्म मात्राओं के साथ साथ करनी है केवल लोक नहीं केवल अवस्था नहीं केवल उसकी देवता नहीं केवल उसका ऋषि नहीं केवल उसका छंद नहीं सारा है ना उसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ तो संकेत मात्र दो किया गया था लोक और आपको यहाँ पर बता गया लोक और अवस्था दो ही ले रहे हैं लेकिन वास्तव में अनेकों तत्व उसमें उन सारे चीजों की कल्पना का अधिष्ठान होता जागृत अवस्था का अभिमानी और शुद्ध चैतन्य का ध्यान उसके बिना नहीं होएगा कल इसलिए पुरुष ध्यान लक्षणास योग क्रियास हो पुरुष का अभिध्यान रूपी जो योग क्रियाओं में सम्यक युक्तासो सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासो सम्यक प्रकार से ध्यान काल में जब इनको प्रयुक्त कर लोगे तब क्या होएगा न कंबदे न चल योगी यथोक्त विभाग ओंकार प्रत्येक विभाग का समय प्रकार का ज्ञाता उस ओंकार का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति को कभी भी चलित नहीं होता यहाँ ठीक है मेरे को बहुत सुंदर का है जागृत पुरुष हो वैश्वान राभिन्नो विश्वा जागृत पुरुष कौन है वैश्वान से अभिन जो विश्व है तत्म स्थूल शरीरम जागृत स्थान कौन है स्थूल शरीर और जागृत स्थान स्वप्न परिषद तो हिरण गर्भा अभिन्न तेज तत्स्थान लिंग शरीरम स्वप्न सुषुप्त ईश्वरात्मा प्राज्ञ तत्स्थानम अव्याकृतम सुषुप्ति स्थान भी बता दिया और वह का कहा गलवित हो गया आस्थान उस स्थान में जो अभिमानी देवता वो भी बता दिया दृष्टि में और समष्टि में दोनों तरफ तेषण अकारादित आरात्म यद विज्ञानम उन्हीं को अकारादि के साथ तारात्म करते हुए जो विज्ञान करोगे तल लक्षणम तन लक्षणासो योग क्रियासो प्रयुक्ता सो अन्योन्य सकता अनुप्रयुक्ता तीसरा मात्रा प्रयुक्ता चेन न कंपते इत्यन्वय ऐसा अनुय करके समझना चाहिए ये आनंद गिरकार ने स्पष्ट कर दिया तो वह व्यक्ति न तस्य एवं विधा चलन उपते एवं वित्त जो इस प्रकार का ज्ञाता है और इस प्रकार का ध्यान अधिक करने वाला है वह व्यक्ति को कभी भी अपना स्वरूप से गिरना नहीं पड़ता अर्थात दो बार इस माया विद्या का जाल में आना नहीं पड़ता है यत्ना जागरूक सुशुद्धा पुरुषा स्थानीय मात्र त्रय रूपेण ओंकारात्म रूपेण दृष्टा जिसलिए कि उसने क्या किया है जागृत का अभिमानी पुरुष स्वप्न का अभिमानी पुरुष सुश्रुति का अभिमानी पुरुष ये जो अलग अलग करके अनुभव होते हैं उन सभी को सह स्थान स्थानों के सहित वो क्या मान रहा है मात्रा रूपेण और मात्र रूप मान लिया और मात्र रूप को भी ओंकारात्म रूपेण वह भी ओंकार स्वरूप ही है और ओंकार क्या है वह स्वरूप अपना स्वरूप ही है इस प्रकार से दृष्टा यस्मा जिसलिए वो विद्वान ने ऐसा अनुभव कर लिया इसलिए सही एवं विद्वान जिस प्रकार का विद्वान होगा वह सर्वात्भूत सन ओंकार मया तो वाचलित कस्मिन वाचलित जो ऐसा होगा वह सर्वात्भूत हो जाएगा सर्वाधीन हो जाएगा कि समष्टि वृष्टि सब कुछ उसी के स्वर में परिकल्पित है उस स्वर में परिकल्पित हो जाने के कारण से वह अपने स्वर में समस्त ब्रह्मांड को देखता है और अपना स्वरूप यह शरीर पर्यंत अपने हृदय रूपी गुफा के अंदर अनुभव भी करता है और उसी को मानता है जो हृदयाकाश है वही या महाकाश जो बाहर है अभिन्न रूपेण अनुभव तो इसी बात को कह रहे हैं स्वयं विद्वान सर्वात्म ओंकार में कुतो चले कस्मिन चले वह किस से अलग होएगा वह कहा अलग होएगा अर्धा न किसी से वो अलग है न कहीं अलग होने को स्थान ही रह जाएगा कि जब सब कुछ उसी में ही है वह से अलग होगा और वह अपने में स्थिर हो ही गया है अतः अपने से भिन्न कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं जिससे वो अलग हो सके अलग होना भी चाहेगा तो कल नहीं हो सकता जो उससे अलग कुछ है ही नहीं किससे अलग होएगा स्व से भिन्न कोई वस्तु हो तो उससे मैं अलग हुआ इसे व्यवहार कर सकता हूँ ना जैसे यह शरीर आपका शरीर से भिन्न होने के नाते मैं कह सकता हूँ ये शरीर आपका शरीर से अलग है यदि ये शरीर और शरीर दोनों एक हो जाए तो कौन किससे अलग है कोई किससे अलग है इधर समस्त ब्रह्मांड की समस्त है जितने भी जार सुश्रुतिकारों में और समस्त समस्त वृष्टि में जितनी भी है सारे इसको अपने स्वरूप से अभिन्न जब अनुभव करोगे तो स्व भिन्न कोई वस्तु नहीं मिलेगा जिससे अभिन्न आप अपने आप को मार सकते हैं अतएव कहते हैं कि वह किस से अलग होगा कहाँ अलग होगा बता तो हो ही नहीं सकता वह अभेद स्वरूप हो गया सर्वार्थ संग्रहार्थ द्वितीय मंत्र है जितनी बात कही गई पूरे पंचम प्रश्न का विषय वो पूरी पूरे बातों को संग्रह करने वाला बहुत सुंदर एक मंत्र आ रहा है ऋग्भीरेतम यजरक्षम साम फिर तत्कवयो वेदयंदे तमोकारेण अन्वेत अजरम अमृतम भयम कहते कि देखो ऋग्वी एतम लोकम एति यजुर्वीर अंतरिक्षम लोकम ब्रह्म लोकम तम ओंकार उस ओंकार रूपी आलमन के द्वारा ही विद्वान उस लोक को प्राप्त होता है तत्व लोगों को प्राप्त करता है इस ओंकार रूपी आलमन के आधार पर ही एक ही एक एक मात्रा जैसे समझे हुए आप लेकिन जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण विचित्र रूपेण प्रथम द्वय को गौण और तीसरी मात्रा को प्रदान करते हुए नारविंद आदि पर विचार करता है चिंतन करता है ध्यान करता है वह विद्वान यम अजरम अमृतम अभयम परम इति वो उसको प्राप्त करेगा क्या क्या चीज को प्राप्त करेगा और शांत स्वरूप को प्राप्त कर जाता है शांत स्वरूप क्या होता है वो अर्थात स्थूल और समूह सूक्ष्म प्रपंच रहित कि स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच में ही अशांति है स्वप्न में भी अशांति है ना काफी तो चलता है सीरियल हजार में भी सीरियल चल रहा है ये दोनों अशांत स्वरूप है इसलिए शांत स्वरूप कौन हो गया सुषुप्ति कहते लेकिन सुषुप्ति नहीं ले लेना आप इसलिए अजरम अजर है वो और सुषुप्ति अवस्था में क्या है जीर्ण हो जाती है कुछ घंटों के लिए आती है चली जाती है है कि नहीं जब सुश्रुति की अपनी जवानी रहती है तब आपको उठा के भी कोई ले जाए आपको पता नहीं चलता वो सुश्रुति की जवानी है ना रोज आदमी जाता है सुश्रुति के जन्म काल में तो कोई खटपट कर दे तो भी आप जग जाएंगे तुरंत ही क्यों अभी सुश्रुति जा ही रहे थे सुश्रुति का जन्म काल फिर उसका बाल्यकाल है फिर उसकी वावस्था है फिर वार्धक्य होगा फिर मर जाएगी सुश्रुति आप वापस जागृत में आ जाए तो सुषुप्ति भी जीर्यमान वस्तु ये तो प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं हम वो भी कालक्रम नष्ट हो जाता है और हमारा तो स्वरूप कैसा है सुषुप्तिवत जीर्यमान नहीं है जर नहीं है किंतु अजरम अमृतम जिसने ऐसा है मरणशील है नहीं वो मृत मृत को मरण का विषय मृत्यु का विषय वो नहीं हो सकता वो अमृत है अविनाशी जिसे अविनाशी है इसलिए अभय है सगल भय रहित हो गया अतएव परम ब्रह्म इति तो परम ब्रह्म ही है वो और कुछ नहीं भाष्यकार ऋग्वीर एतम लोक मनुष्य मनुष्य उपलक्षिता ऋग्वीर एतम लोक अकार मात्रा को लेकर चलने वाला तो ऋग्वेद के अभिमानी देवताओं के माध्यम से इसी लोगों को प्राप्त करेगा जो मनुष्य उपलक्षित लोक है यजुर्वेद अंतरिक्षम यजुर्वादी देवताओं के द्वारा वो मात्र प्रधान भजन करने वाले को अंतरिक्ष ये कैसा है वो सोमाधिष्ठितम चंद्र लोकों को प्राप्त करेगा सामवेद यद ब्रह्मलोकम सामवेद अभिमानी देवता लोग मात्र मात्र को प्रदान करके चलने वाले को वह ब्रह्मलोक प्रदान कराएंगे तृतीयम कवयो मेधाविनो ये तृतीय स्थान को मेधावी लोग ही केवल जान पाते हैं सभी नहीं जान पाते विद्यावंत न विद्वांस विद्वान लोग ही इसे जान सकते हैं समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे की बस की बात नहीं है तंत्र दिविदम लोकम ओंकारेण साधनेन अपर ब्रह्म लक्षण मन वेदी अनुगछति विद्वान और जो स्त्रिविध लोक ओंकार के द्वारा त्रिविधम लोकम तीनों प्रकार के लोकों को कौन प्राप्त करेगा विद्वान कैसे प्राप्त करेगा ओंकार रूपी साधन के द्वारा क्योंकि वह अपर ब्रह्म की ही वह उपासना कर रहा है चलो एक एक माता लेकर चलूंगा तो क्या होगा वो अपर ब्रह्म की उपासना क्यों ओम ही अपर ब्रह्म भी है ओम ही पर ब्रह्म भी है शुरू में उपक्रम में वही उपसंहार में आ गया उपक्रम ही कहा गया था उसी को उपसंहार में लाए कि उस अपर ब्रह्म को ही ओम के द्वारा जो ग्रहण करना चाहता है उसको तारस विद्वान को तारस उपासकों को यही तीनों लोग भी फल प्राप्त होगा वह अपर ब्रह्म लक्षण अन्वेति अनुगछति विद्वान लेकिन उसी चीज को उसी ओंकार तेन ओंकारेण यद परम ब्रह्म अक्षम सत्यम पुरुषाक्यम शांत विमुक्तम इत्यादि लेकिन उसी ओंकार को तीनों मात्राओं से विशिष्ट होता हुआ दो को गौण एक को प्रधान और तो उत्तरवर्ती नागरिक कलाओं का ध्यान करने वाला पुरुष के लिए क्या होगा तार साधक को ब्रह्म अक्षरम जो परम है अर्थात ब्रह्म है अक्षर तत्व है शक्ति गौ कहा गया है पुरुष नाम से कहा जाता है जो वह शांतम शांत क्यों है वियुक्तम जागर सुषुप्त आदि विशेष सर्व प्रपंच वर्जित स्थूल सूक्ष्म प्रपंच है जागृत स्वप्न सुषुप्त आदि विशेष जो हम अनुभव करते हैं सर्व प्रपंच से रहित है अतएव अजरम जरावर्जित इसलिए जरा से वर्जित है अमृतम मृत्यु वर्जितम अत विनाशित नहीं है विनाश रहित है वो अतः समाज जरा विक्रिया रहित जरा सकल विक्रिया रहित है अतो अभयम इसलिए वह अभय यस्मादेव अवयम इसलिए वो अवय तस्मात परम निर्दिशय इसलिए कैसा है वो निर्दिशय है वह जो जितनी भी आप अनुभव करते हो सब सात शे पदार्थ अपर ब्रह्म कोटि में आ गया और पर ब्रह्म कोटि कैसी है निर्दिशय कोटि है तभी ओंकार गमन साधन अनुभेदी वह भी ओंकार रूपी जायतन जो गमन मैंने प्राप्ति अनुभूति का साधन है लोक रूप तो नहीं है लोक रूपये तो मैं गमन में क्या कहूंगा मैं जाना यहाँ गमन कर ज्ञप्ति अनुभूति ज्ञान स्वरूप है इसलिए गमन साधन ज्ञान साधन न अनुभूति साधन न ओंकार अनुभूयते अनुभूति इति शब्द वाक्य परिसमाप्त्यर्थ जो इति शब्द है यह पंचम प्रश्न रूप एक वाक्य की परिसमाप्ति के लिए कहा गया है ऐसा समझिएगा तेरे टिप्पणम इदम अनजागृतम भाजी तृतीयांतम पाठ्यम ये दो नंबर टिप्पणकार कहते हैं कि प्रयुक्त तेलैव परम अपी न प्रयुक्ता टीका में देना अपर ब्रह्म प्राप्ति अर्थम यह ओंकार प्रयुक्ता तेलैव ओंकार अपर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो ओंकार को सुने प्रत्येक मात्र प्रधान रूपेण अलग अलग करके जो पृथक रूपेण किया वैसा तेन लेकिन फर्क क्या है न पृथक प्रयुक्ता अंतर ही है पृथक प्रयुक्त नहीं अन्योन्य होनी चाहिए पृथक प्रयुक्त नहीं होना चाहिए तब परम अभी प्राप्त होती ब्रह्म लोकम इत्यादि ब्रह्म उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार उक्त से ओंकार से क्रम मुक्ति फलत्वात उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा उक्त ओंकार ही क्रम मुक्ति फल भी प्रदान करने वाला है इसी बात को लेकर भाषकर ही ओंकार ने तत्परम ब्रह्म इत्यादि कहा और जिससे आप अपर ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं उसी से ही आप पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हैं साधन एक है लेकिन प्रयोग करने की तरीका के ऊपर प्रकार के ऊपर निर्भर होता है फर्क उसमें साधन में कोई फर्क नहीं है और साधन के प्रयोग करने में केवल फर्क हो रहा है ये समझना है इस प्रकार से पंचम प्रश्न पूरा हो जाता है यहीं पर रख देते हैं मैं तो तुमसे झूठ बोल नहीं सकता तो छपाने के लिए मिथ्या भाषण नहीं कर सकता जगत तो अपना जो कार्य कारणात्मक है वह अपने विज्ञान आत्मा के सहित अर्थात जीव भाव सहित जो है उस परब्रह्म परमात्मा में शिव काल जाकर है ये बात कह फिर उसी से ज्ञापन हो रहा है प्रणय भी तस्वीर यह अक्षर कर सकते प्रणय कार्य निश्चित रूप से Thank you, Steve. निचोड़ है यह भाषार है ऐसे कह दिया गया है अनंतरम च उत्तम और यहाँ पर भी आगे कहा गया है सर्वज्ञ सर्वोभवती सर्वज्ञ और तो अनंतर ने इधर कुछ का क्या करके अब अनंतरम का क्या होगा चौथा प्रश्न आगे नहीं लेना की बात कहा गया आपका नहीं हो जाए थे और अब अनंतरम का मतलब इतने प्रश्न में क्या किया गया था वह सर्वज्ञ हो जाता है सत्संग ही हो जाता है वक्तव्य और आगे कहेंगे अक्षर सत्य पुरुषा और कहने वाला बदलाना आवश्यक भी है कि अब उस पुरुष नामक सत्य अक्षर जो ब्रह्म है वह कहा जाना जा सकता है उसको क्या प्रश्न का आरंभ किया जा रहा है ज्ञान च विज्ञान से दुर्लभत्व क्या बने रहा है कल लभ्यर्थ मुख्यो नाम यत्त विशेष साधना कहते कि वे आख्यान उल्लेख का तात्पर्य है यह आख्यान का भाई व्यक्ति के पास पूछने के लिए निरहंकारी होते इतना शुद्ध अंतकरण वाले को भी ज्ञान प्राप्त और वो पूछने जिसके पास आया होगा वो भी दुनिया में नामी आई शास्त्र के मर्म नहीं ऐसे ऐसे दुनिया प्रचार होगा तभी तो राजकुमार आया इसलिए ज्ञान के बारे बात बताई जा रही कि अंत पर परिषद क्षत्रि क्यों हो और चाहे अंत पर परिषद ब्राह्मण श्रेष्ठ इस बात को प्रकट करने के लिए प्रतिपादन किया गया है कि विज्ञान जो है वह अत्यंत दुर्लभ दुर्लभ मोक्ष परिणाम विशेष उत्पाद प्रेरणा क्या देना चाहते हैं साथ इस विज्ञान को लाभ करने के इच्छुक जो मोक्ष होंगे उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए विशेष यत्न करना ही होगा उसके बिना यह हासिल नहीं हो सकता विशेष यत्न विशेष का उत्पादन करने के लिए लभ्यर्थम यत्न विशेष उत्पादनात्मक नाम मनुष्यों को ये प्रेरणा दिया जा रहा है भाई यदि आप इस विज्ञान को चाहते हैं फिर तो आप ये विशेष अवश्य होगा उसके बिना परोक्ष ज्ञान भी मिलना मुश्किल है अपरोक्ष ज्ञान तो दूर की बात परोक्ष ज्ञान भी पकड़ में नहीं आता है वेद वेदा सुनने के बाद माया कहा क्या ये पता नहीं चला कहते हैं कि माया क्या इसका मतलब परोक्ष ज्ञान भी होना बड़ा कठिन बड़े वेदा में प्रवचन देना बहुत अच्छे विद्वान की बात होता है और उनके तो प्रेमपुरी आध्यात्मिक अवसर मुंबई जैसे स्थल में है प्रवचन होते महीने में वहां प्रवचन देना इतना आसान नंबर नहीं लगता विद्वान एक बार आए हम पूछे सारी बात तो समझ में आती है इन माया ने इस ब्रह्म के ऊपर जगत को कैसे विचार आप तो कहते हो माया दिखा रही है मैं भी प्रवचन में खूब कहता हूँ इस बात को फिर मुझे आज तो स्वयं से भी समझ भैया आदमी को जो है अब कुछ ही बोला ज्यादा देखिए श्रवण तो आपने किया है और प्रवचन तो कर ही रहे लेकिन मनन की कमी आप थोड़ा मनन और क्योंकि अभी हमने जितने भी दृष्टांत चल रहे हैं इसलिए आपकी परेशानी है नहीं मान के चलेंगे तो परेशानी कम है नहीं फिर दिखाई क्यों दिया इसका जवाब मिल जाएगा आई है मान लिया आपने सब परेशान तो आप वेदांत को समझने थोड़े फर्क पड़ता है तो मन तो इस तरह से बड़े बड़े लोग इसमें जो है ना परोक्ष ज्ञान भी ढंग का पचा नहीं अपरोक्ष मुख्यों के लिए तो सिर्फ बहुत यत्न विशेष भाई तो श्रद्धा की कमी होती है बता रहे हैं भाई है ही नहीं फिर भी आई कहा से पूछने का मतलब क्या तो गुरु वचन में श्रद्धा है नहीं तो कह रहे मान लिया अरे उसका अनुभव करो पहले परोक्ष स्वीकार स्थिति उपलब्ध कर दिया इसलिए शास्त्रकार ने कहा भाई सर मान लो है करके मानो भ्रम ही है और कुछ नहीं है ये मान लो मान करके आगे पढ़ोगे तो काम चलेगा मानोगे नहीं शुरू में खटपट कर फिर आगे क्या होगा तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ये कहानी इसलिए बताई गई है कि भाई व्यक्ति के अंदर श्रद्धा की पूर्णता के श्रद्धा युक्त यत्न आदि से ही मुमुक्ष को यह सिद्धि प्राप्ति हो सकती है केवल श्रद्धावान कोई प्राप्त नहीं हो सकता श्रद्धावान था वो राजकुमार भी श्रद्धावान है भारद्वाज भी कम नहीं था हाँ। उनको उसको प्राप्त यत्ना अधिक की अपेक्षा क्या हुई तीसरे हरि के साथ और भारद्वाज और वहां आकर साल भर ब्रह्मचर्य अनुष्ठान किया तदनंतर प्रश्न पूछे हैं तब उनको ज्ञान प्राप्त तो यत्ताधिक्यता तो यही है सारे श्रोत वर्ण के पास जाना है और वह उनके के आदेशानुसार उनका साल भर दो साल जितना भी समय के तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पाल पूर्वक साधना करते हुए हम तक पूर्ण का प्राप्त करना होगा तदनंतर ही यह परोक्ष ज्ञान पुष्कृत हो सकता है इसलिए कहते हे भगवान हिरण्यनाभो नाम कौशलायाम भव कौशल्यो नाम से हिरण्यनाभ था कौशल देश में होने के कारण से उसका नाम कौशल्य था राजपुत्र मतलब जाति क्षत्रिय जाति क्षत्रिय राजपुत्र होते क्षत्रिय नाम उपेत्य उपगम्य एतम प्रश्न मेरे पास आकर के उन्होंने आगे में कहे जाने वाले प्रश्न को उसने मेरे से पूछा था क्या प्रश्न था षोड़ कदम शोर संज्ञा का कला अवयवा आत्मनि अविद्यारोपित रूपा यस्मिन पुरुष है स्वयं शोर्ष कला तम शोर्ष कल पुरुषम हे भारद्वाज पुरुषम षोड़श कलम ठीक है विग्रह बात कर दिया षोड़श संख्या का कला मान अवयवा युव वास्तव में अवयव नहीं है भाषिकार स्पष्ट कर देते भाई अवयवों के समान क्योंकि अकल वो अकल को सकल कैसे बना दिया कला रहे थे अकल है वो कला रहित मतलब वो अकल है उसको अपने स कला कला रहित कर तो सकल करो इसे कहते हैं कला मैंने अवयवा भाग होता है प्राण आदियों का जिससे होके टुकड़े होते हैं अवय होते हैं समझ तो उस ब्रह्म के सोलह टुकड़े हो गए सोलह अवयव है ऐसा कोई ना समझे इसलिए भाषकर बड़े सतर्कता को व्याख्या करते हुए दिख रहे आत्मनि अविद्या रूपा युवा क्यों कह दिया आपने हम स्पष्ट करते हैं युवा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म में आरोपित है कैसे अध्यारोपित हो गया अविद्या से अध्यारोपित रूपा अवयवा है पुरुष में ही अविद्या का जन्म हुआ है उस पुरुष रूपा आत्मा में स्वयं षोड़श फल उस पुरुष को हम कहते हैं षोड़श फल पुरुष हम षोड़श फल पुरुष हम हे तमाम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम अपूर्वम उत्तवान उस राजपुत्र जो कुमार है तो पूछते हुआ उस पुत्र की उत्तवान मुक्तवान यम मैं इस तत्व को जानता नहीं हूँ जिसे तुम एवं उक्तवत्य मई अज्ञानम असंभावयंतम कहा गया राजकुमार जो घाव छत्र के देश ही रहे ये ऐसा कैसे कह रहे हैं आप नहीं जानते इससे तो क्योंकि पहले तो सुन रखा है कि ये सुकेशा भारद्वाज क्या है परिपूर्ण ज्ञान है सुन तो। उक्तवती अभी मैंने ऐसे जवाब दे दिया कि भाई मैं नहीं जानता फिर भी ऐसे कहे जाने पर भी मई अज्ञान मौसम भाव मुझने इस तत्व की अज्ञान की असंभावना मानती तम अज्ञान कारण अवाच ऐसा मानते हुए खड़ा ही था तो सोच रहा है ऐसे कैसे हो सकता है ये नहीं जानते तो इसलिए वो चार के वहीं खड़ा रहा था कि भाई कुछ और बोले समझ रहे होंगे या कोई मेरी परीक्षा ही ले कुछ न कुछ तो हो इसलिए तुरंत गया नहीं मैं नहीं जानता हूँ कहने के बाद वो क्यों इसके मन में यही था कि भाई इनके अंदर इस वस्तु सत्य का ज्ञान हो नहीं सकता है तो निश्चित रूप से जानते हैं फिर मुझसे होकर उसने वही खड़ा हुआ देख करके तम अज्ञान एक कारण अब मैं उसको क्या इसलिए मेरे अंदर तत्व जो अज्ञान है इस विषय को लेकर के मैं अपने कारण को बता क्या कारण है वो यदि कदम अहम एवं त्वया पृष्ठम पुरुषम अवेनिशम विदितवान अस्मी कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अभिनेते दुखम नाम छोक्तवान अस्मी कदंचित हम यदि मैं किसी प्रकार भी लेश मात्र तत्व गया तो भाई पूरा नहीं जानता हूँ इसमें सिंह के रंग ही जानता होता तो तेरे को बता ही दिया मैं इतना जानता जितना भी यदि थोड़ा सा भी इस विषय में तत्व के बारे में जानता होता हाँ, तो मैं तेरे पूछे तया पृष्ठम पुरुषम अवेदिशम सीतवान चेत हम शिष्य गुणवत्ता अत्यंत शिष्य हो गुणवान हो क्यों हो ऐसा तुम्हारे लिए तुभ्यम नावक तो कैसे नहीं कह सकता नहीं कैसे कहता ऐसे कैसा होगा मैंने अवश्य ही कह देता हूँ मैं इसे जानता होता भूयो अपनी अप्रत्यम इव आलक्ष्य प्रत्यायी तुम अप्रुवा भूयो भी अप्रत्यम इव आलक्ष्य बारंबार उस अज्ञान को ही आलक्षित करता हुआ तुम अभुवम जानते उसको बोध कराने के लिए मैंने और भी कहा इतना कहने पर वो नहीं मान रहा इतना कहने के बावजूद भी तो नहीं मान रहा मैं नहीं जानता होता तो मैं क्यों तुमको नहीं बताता मैं अवश्य ही बता देता ऐसा कहने के बावजूद भी वो गिला अपने अज्ञान को पुरुष लक्षित करने की चेष्टा किया उसके बावजूद वो मानता है नहीं आप जरूर जान सब सत्या और उसको बोध करा रहे अपने अज्ञान का बोध कराने के लिए और मुझे कहना क्या कहना पड़ा समूल सह मूल एश अन्य संतम अन्यता कुरन अंडृतम अयथा भूतार्थमाभिवदती यह शोषम उपैति यह छिद्यते विनश्य जो व्यक्ति आत्मारम अन्य जो वास्तविक रूप है उसका उसको न जान करके उसके दूसरे रूपों को उल्टा पुल्टा कह दे जानता हूँ करके छोटा मोटा बोल दिया ऐसा है वैसा है ये है वो है बकवासबाजी कर दे जो है अन्यथा कुर्बन अन्यथा करता होगा अनृतम अयथा भूतार्थ भवती अनृतम ने अयथार्थ उत्पथन कर देता है यह सह मूले न समूल सह मूले न मूल के सहित वह सेश यह स जो अंकुश तारस व्यक्ति क्या होगा परिशिष्य मतलब शोषण शोषक तो सूख जाएगा अरे क्या सूख जाएगा भाई कौन सूख जाएगा झूठ बोलने से तो चौबीस घंटा लोग झूठ बोल रहे हैं इनकी तो कौन तो सुद्धि और मोटे दिखड़े हो रहे तो क्या करें तो इसलिए कहते कि भाई वहां सूखने का तात्पर्य खून सुखना चुला मतलब होने वाली बात नहीं है किंतु यह लोग परलोक अभ्याम इच्छित देवी नश्य इहलोक और परलोक दोनों से उसका विच्छेद होता है अर्थात अध पतन को प्राप्त निम्न नीच योनियों में चला जाएगा जो नहीं जानता हुआ तत्व को जाना हुआ जैसे अपने आप को बड़े विद्वान ज्ञानी साबित करता हो उल्टा पुलटा कह देता है वह व्यक्ति अपने आप का नाश करता है सुखता है उसका मूल नष्ट हो जाता है तात्पर्य है उसका समस्त प्रकार का पुण्य जो इस लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त करने योग्य जो था और परलोक में देवादी शरीर को प्राप्त करने योग्य था और समस्त पुण्य उसका नष्ट हो जाए ये हाथ और आजकल किसको डर ही नहीं शिष्य बन के आते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि क्या कहा जब भी उन्हें पता है अरे एक नहीं तो इनको सच्चाई का पता लगना ही नहीं पता लग भी जाता है ऐसी बात नहीं कब तक छिपा सच्चाई तो सामने आ ही जाता सत्य तो छिपने वाली चीज है नहीं झूठ से छिपाने की चेष्टा किया जा रहा है बादल से सूर्य को ढकने की चेष्टा करो कब तक करो कितनी बनाओगे बादल और कितना तुम ढकोगे ऐसा भी समय आएगा वो सूर्य उस बादल को भी बरसा देगा छोड़ेगा तो प्रकट तो होगा ही ना वो सूर्य कब उसी प्रकार सत्य को हम झूठों से ढक नहीं सकते आज जितना भी झूठ बोल लेंगे एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाए और फिर भी कलयुग की इतनी महिमा है साधु संतों का पेट में भी जो है ना झूठ बैठ इतना मजबूती से कोई आपकी जो है ना रेचक द्रव्य भी दवाइया उसको बाहर नहीं निकालता जमाल गोटा पी के देखो तो भी झूठ निकलता नहीं ऐसा विचित्र हाल इसलिए यहाँ पर मैंने ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है पर वृत्तान व्याख्यान किस लिए यह विज्ञान दुर्लभता व्यक्ति को सत्यवादी होना बहुत जरूरी है और अतिवादी तो केवल ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है कोई दूसरा अतिवादी हो नहीं सकता है और जो ब्रह्म ज्ञानी न हो तो अतिवदन कर बैठता है उसका तो नाश होता है जैसे जैसे साकल पुरुष करता है ऋषि का हुआ ना गर्दन कट के गिरेगा जो अब्रह्म ज्ञानी होता अति अतिवदन करेगा उसका तो नाश निश्चित है अतएव कोशिश यही होना चाहिए चाहे ब्रह्मज्ञानी हो या ना हो केवल सत्यवादी बनो अतिवादी कभी मत बनो ये यहाँ पर एक मुक्षु के लिए लक्षण का कथन किया जा रहा है साक्षात न कह करके का निर्देश कर दिया कि सत्य में जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है ये इसे बता रहे हैं या तो एवं जाने इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं यदि मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाए आज तक किया हुआ पुण्य और अंतकरण शुद्धि भी सर्वनाश को प्राप्त कर जाएगा और मैं नीच योनियों को प्राप्त करूंगा जिसलिए मैं ऐसा जानता हूं तस्वत नारामी अहम अंडरतम वक्त मूढ़